सुख दुख आदि के भेद से आत्मा का भेद सिद्ध करते हैं तार्किक लोग किंतु सुख दुख आदि उपाधि का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं जागर स्वप्न अविद्या अवस्था में सुख दुख अनुभव होता है अविद्या का जो आवरण है तो सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप है जागर स्वप्न में विपरीत भान का कारण रूप जो अविद्या विक्षेप रूप अविद्या तो रहने पर ही सुख दुख अनुभव होता है जागृत स्वप्न में सुसुप्त में विक्षेप नहीं है विपरीत ग्रहण के कारणभूत अविद्या आवरण तो है अज्ञान किंतु विपरीत ग्रहण अन्यथा ग्रहण का कारण है विक्षेप रूप अविद्या कार्य नहीं है सुसुप्ति में समाधि में तो भ्रांति नहीं होने से सुख दुख अनुभव नहीं होता है तो सुख दुख ये भेद आदि सब मिथ्या है अविद्यावद उपलब्धत्वाच भेदस्य जीवानां क्रमेण अनेक शरीर अनुयायित्वात् प्रातिभाषिक से शरीरादि संतानस्य यहाँ पहले टीका हुई तो इतने इतने अविद्यावत उपलब्धत्व हो जीवानां क्रमेण अनेक शरीर अनुयायित्वात् एक साथ अनेक शरीर नहीं प्रत्येक जीव अंतकरण के भेद से चिदाभास से भिन्न होने से जीव शब्द का वाच्यार्थ भिन्न भिन्न है लक्ष्यार्थ बिंब रूप चेतन एक होने पर भी प्रतिबिंब चिदाभास रूप अनेक है जिस प्रकार एक मुख का प्रतिबिंब अनेक दर्पण में अनेक है एक चेतन बिंब रूप दृक रूप है सर्वव्यापक आकाश के समान सब के अंदर बाहर है किंतु अविद्या से जन्य अंतकरण बहुत है सब में उसका आभास चिदाभास दिखता है चेतन जैसे लगता है उसको जीव शब्द का वाच्यार्थ कहते हैं उसको लेकर के बहुवचन जीवाना क्रमेण अनेक सर्वानेत्वात् अनादिकाल से जीव ऐसे जन्म मरण कर्म करता है फिर जन्म प्राप्त करता है भोग करने के लिए फिर कर्म करता है ऐसे जन्म मरण प्राप्त हो करता है अनेक शरीर के अनुयायी शरीरम अनुयच्छति जैसे जब कर्म फल देगा ऐसे शरीर प्राप्त होगा फिर मर जाएगा फिर शरीर प्राप्त होगा फिर कर्म करके फिर शरीर प्राप्त होगा अनेक शरीर अनुयायी अनेक शरीर को प्राप्त करता है क्रमेण एक बाद दूसरा एक बाद दूसरा कभी कोई जन्म चौरासी लाख चक्कर में घूम रहा है यह जो शरीर आदि प्रवाह चलता है प्रातिभाषिक प्रतीति केवल सिद्ध वास्तव नहीं है शरीरादि संतान से मिथ्याभिमान विषयत्वात् ये मिथ्याभिमान विषय अभिमान देहादि अहम बुद्धि मिथ्या है अहंकार के कारण देहाभिमान अहम बुद्धि होने से ही शरीरादि का में अहम बुद्धि अहम करमि सुखी दुखी आदि सुक्ति रूप्यवत अज्ञान बीजस्य विच्छेदे आत्मनो मुख्य संज्ञा संज्ञायते सम्मत जैसे सुक्ति रजत दिखता है सुक्ति में अज्ञान से दिखता है अज्ञान उसका कारण सुक्ति के ग्रहण यदि हो जाए तो सुक्ति में रजत का भान नहीं होगा सुक्ति के अज्ञान से वहाँ विषय पर सुक्ति रजत गान होता है इसी प्रकार सुक्ति रूपये का मिथ्या भ्रम की निवृत्ति हो जाती उसका बीज बीज है अज्ञान इसी प्रकार ये शरीर आदि संतान का बीज है अज्ञान अज्ञान बीजस्य अज्ञानम बीजम यस्ति अज्ञान है कारण सर्रादि संतान का उसका विच्छेद होने पर ज्ञान होने पर अज्ञान निवृत्त होता है तो सर्रादि संतान का विच्छेद हो जाता है तो आत्मन मोक्ष संज्ञा आत्मा में मोक्ष शब्द प्रयोग करते मुक्त हो गया भाष्य में तस्मा शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि बुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्मतत्व यथात्म विज्ञानाद विनिवृत्ता अज्ञान बीजस्य विच्छेद आत्मन मोक्ष संज्ञा विपरेच बंध संज्ञा तत्क्षय अनुपवति शरीरेन्द्र मन बुद्धि विषय वेदना सुख दुख आदि अनुभव इसके प्रभाव संतान अहंकार के संबंध से है मिथ्या है अज्ञान उसका बीज कारण है नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्मतत्व नित्य विज्ञान अन्य नित्य विज्ञान से अन्य नित्य विज्ञान नित्य विज्ञान ब्रह्म चेतना अन्य निमित्तस्य नित्य विज्ञानम अन्यत निमित्तम विज्ञान भी निमित्त कारण आत्म चैतन्य उपादान से अतिरिक्त उपादान तो माया है वो सत्य निमित्त कारण नित्य विज्ञान नित्य विज्ञानम अन्यत निमित्तम यस्य संसारस्य संतानस्य आत्मतत्व यथात्म विज्ञानाद हो आत्मतत्व का यथात्म यथार्थ ज्ञान अपरोक्ष संशय विपरीत ज्ञान होने पर ही आत्म के अज्ञान की निवृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति होने से बीज नष्ट होने पर अज्ञान बीज है नष्ट होने पर उसका कार्य संसार का उच्छेद अज्ञान बीज से विच्छेद अज्ञान है बीज जिसका संसार उसका उच्छेद हो विच्छेद होने पर आत्मा में मुख्य संज्ञा विपर्य जो अज्ञान है तो बंध संज्ञा ठीक है मैं हम्म? विच्छेद अज्ञान बीज से विच्छेद आत्मा में मुख्य संज्ञा तो बंध संज्ञा आत्मनैति वेदना नहीं वेदना संतान है देवना हाँ वेदना है विषय वेदना आत्मनित तो कस्माद उच्यते विशिष्ट से बंधमुक्ष मोक्ष किम नेश्यते आत्मा में बंध क्यों कहते हैं वो तो विशिष्ट में उपाधि विशिष्ट में बंध मुख्य कहना चाहिए अंतकरण विशिष्ट अविद्या विशिष्ट में क्यों नहीं मानते तत्राह अपेक्षत्वाद उभयो हो दोनों ही स्वरूप में है बंध और मोक्ष विशिष्ट में नहीं है क्योंकि मोक्ष काल में विशिष्ट नहीं रहेगा विशिष्ट होता उपाधि विशिष्ट अज्ञान हो तो उपाधि विशिष्ट है ज्ञान होने पर मोक्ष होता है तो उपाधि नहीं रहने से विशिष्ट नहीं रहेगा जब मोक्ष काल में विशिष्ट नहीं रहेगा मुक्त विशिष्ट नहीं होगा मुक्त शुद्ध में मोक्ष व्यवहार तो बंधन भी उसमें होगा बंधन अन्यत्र मोक्ष अन्यत्र इसे नहीं होगा स्वरूप में ही बंध मोक्ष दोनों टीका मैं विशिष्ट से मोक्ष अन्वय संभवात मोक्ष काल में विशिष्ट रहेगा उसका अन्वय संबंध नहीं होगा अन्वय यदि रहेगा तो संसार अनिवृत्ति प्रसंगात मुख्य काल में विशिष्ट यदि रहेगा अंतकण आदि विशिष्ट कर्तृत्व विशिष्ट भोक्तृत्व विशिष्ट तो सांसारिक निवृत्ति नहीं हुई बंध रहा और अन्य से च बंधे अन्य से च मुख्य मुख्य होगा शुद्ध और बंधन रहेगा विशिष्ट में तो साधन व्यर्थ साधन व्यर्थ हो जाएगा जो साधन करेगा बद्ध है वही मोक्ष काल में रहेगा तो मोक्ष अवस्था में विशिष्ट नहीं रहता है शुद्ध तो शुद्ध में मुख्य उनसे शुद्ध में बंधन तो शुद्ध में कैसे रहेगा बंधन मुख्य उपाधि वैशिष्ट द्वारा न स्वरूप सेव उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य बंध मुख्य वैशिष्ट द्वारा न उपाधि वैशिष्ट उपाधि का संबंध उपाधि संबंध के द्वारा स्वरूप में ही उपाधि के कारण ही स्वरूप सेव उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य अंतकणादि उपाधि में प्रतिबिंब के समान प्रतिबिंब कल्पस्य जो जीव का वाचार्थ प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है बंध मोक्ष तो स्वरूप ही है उपाधि प्रतिबिंब के समान स्वरूप से बंध मोक्ष विशिष्ट में नहीं शुद्ध स्वरूप में कल्पित है और उपाधि के है बंध मोक्ष प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब कल्प से बंध मोक्ष कहेंगे जीव में बंध मोक्ष अभी प्रतिबिंब क्या है प्रतिबिंब ही वाच्य रूपेण मिथ्या लक्ष्य रूपेण तो बिंब में वैति स्वरूपावस्थान उपपद्यते एक है प्रतिबिंबवाद एक अवच्छेदवाद अवच्छेदवाद वाचस्पति मिश्र का है अंतकण अवच्छिन्न होता है जीव शुद्ध चेतन व्यापक है आकाश के समान घट के अंदर आकाश को घटा अवच्छिन्न आकाश कहा जाता है इसी प्रकार चेतन व्यापक है अंतकण अवच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं वाचस्पति मिश्र भामतिकार वो जब अंतकण जाता तो अंतकण अवच्छिन्न चैतन्य में लोक गमन आगमन जन्म मरण आदि सब प्राप्त होता है शुद्ध स्वरूप में कुछ नहीं अंतकण अवच्छिन्न को जीव कहते अवच्छेद अवच्छेदवाद अवच्छेद होने से जीव हो गया और विवरण कारक मत है प्रतिबिंबवाद आभास एवच ऐसे ब्रह्मसूत्र है तो प्रतिबिंब है शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब होता है अंतकण में जिसको चिदाभास कहते हैं तो प्रतिबिंब कहने से वो जीव होता है चिदाभास विशिष्ट अं-, बुद्धि अथवा बुद्धि में चैचय में चिदाभास रहे उसको कहते जीव बुद्धि जाने पर प्रतिबिंब भी उसके साथ रहता है और एक होता आभासवाद भारतीयकार सूर्योष्टाचार्य के मते आभासवाद विवरण मते है प्रतिबिंबवाद वार्तिकार भगवान के आभासवाद आभास भी प्रतिबिंब है दोनों में प्रतिबिंब समान है तो भी दो मत भिन्न इसलिए हुआ विवरण कहा कार कहते प्रतिबिंब बिंब से कोई अलग नहीं है बिंब ही दर्पण में दिखता है दर्पण के माध्यम से बिंब ही दिखता है प्रतिबिंब बिंब से अलग है ही नहीं सत्य है भारतीकार कहते हैं जो दर्पण में दिखता है दर्पणस्थ प्रतिबिंब सत्य नहीं मिथ्या है विवरणकार भी कहेंगे प्रतिबिंब दर्पण सत्येन मिथ्या है किंतु उसका विचार नहीं करके कहते प्रतिबिंब सत्य ही है बिंब से भिन्न है ही नहीं और वार्तिकार प्रतिबिंब दर्पणस्थ है इसलिए मिथ्या है इतने दोनों में भेद है वही प्रतिबिंब सत्य होने से विवरणकार मत है प्रतिबिंबवाद वही प्रतिबिंब मिथ्या होने से वार्तिकार के अनुसार आभासवाद दोनों मत में चैतन्य का प्रतिबिंब है प्रतिबिंब को सत्य मानेंगे तो उसका नाम हो जाएगा प्रतिबिंबवाद विवरणकार का मत प्रतिबिंब मिथ्या कहेंगे तो आभासवाद वार्तिकार के मत अब यही कहते प्रतिबिंब ही वाच्य रूपेण मिथ्या लक्षण रूपेण तो बिंबमेव इति प्रतिबिंब वाच्य रूपेण मिथ्या प्रतिमा मिथ्या वाच्य रूपेण दर्पण तत्वेन विशिष्ट रूपेण प्रतिबिंब वाच्य जीव शब्द का वाच्यार्थ विशिष्ट रूपेण अंतकरण विशिष्ट जैसे दर्पण में मुख दिखता है दर्पणस्थ दर्पणस्थत्वम दर्पणस्थत्वेन दर्पण विशिष्टत्वेन होगा तो मिथ्या है और वास्तव तो लक्ष्य है प्रतिबिंब देकर के कोई सामान्य तो भ्रांत दर्पण में दिखता है करके किंतु सब समझ लेते हैं प्रतिबिंब को देख करके बिंब यहाँ है पीछे कोई है देखते ही कोई पीछे आया प्रतिबिंब बिंब ही है दर्पण कुछ नहीं तो लक्ष्य रूपेण तो बिंबमेव लक्ष्य है वो दिखता है चैत्र दर्पण देखा देखो वो चैत्र आ रहा है प्रतिबिंब को दिखाते तो चैत्र आ रहा है लक्षित होता है जो आ रहा है वो चैत्र उसका प्रतिबिंब दिखता है तो लक्ष्य रूपेण सत्य है बिंब है तो लक्ष्य रूपेण बिंब ये हो गया कार मत वाच्य रूपेण मिथ्या ये कार मत दोनों के मत कोई विशेष कोई भेद नहीं दोनों तो वाच्य को मिथ्या मानेंगे तो यहाँ बिंब को सत्य कहते क्योंकि वो लक्ष्य रूप ही है लोक में कर देखो चैत्र आता है मतलब चैत्र बिंब और चैत्र इधर दिखाते हैं ये लक्षित होता है चैत्र इधर है और दर्पण में जो दिखता है वो वाच्यार्थ मिथ्या है तो प्रतिबिंब ही वाच्य रूपेण मिथ्या लक्षण रूपण तो बिंब में वही थी तो तो वाच्य होने से क्या हुआ मंध मोक्ष दोनों स्वरूप लक्ष्यार्थ में है स्वरूप अवस्थान मुक्ति रूप पद्धति स्वरूपेण अवस्थानम स्वरूप शुद्ध दृग रूप तद्रूपेण रहना मोक्ष मोक्ष काल में शुद्ध चैतन्य रहता है इसलिए उसमें ही बंध कल्पित है जो मुख्य अवस्था में रहेगा वही बंध अवस्था में है तो बंध मोक्ष एक में रहेगा तो बंधन जहाँ मोक्ष वहाँ बंध की निवृत्ति बंधन निवृत्ति मोक्ष और बंधन चैत्र का और मैत्र को खोल दिया तो चैत्र मुक्त हो जाएगा जो बद्ध है वही मुक्त होगा मुक्त मुक्त काल में रहेगा तो बद्ध वही था जो प्रयत्न करेगा साधन करेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा और जो बद्ध है वो मर गया तो मुक्त हो गया यदि विशिष्ट को बद्ध मानेंगे विशिष्ट नहीं रहेगा मुख्य काल में तो मुक्त कौन होगा विशिष्ट रहा ही नहीं समाप्त हो गया इसको मुक्ति नहीं कहते तो स्वयं रहे तो मुक्त होगा मर जाने से मुक्त नहीं कहते बंद कारागार में मर गया तो मुक्त नहीं हुआ हाँ कारागार से हट जाए अन्यत रहे तो मुक्त होगा अर्थात मुक्त मुख्य काल में रहेगा मोक्ष काल में शुद्ध चैतन्य रहता है इसे उसमें बंध बंध वास्तव नहीं कल्पित है बंध कल्पित होने से बंध निवृत्त रूप मोक्ष भी कोई वास्तव नहीं है न हो न चत्पतिर न बद्ध न च साधक न मुमुक्ष न मुक्त इत्येषा परमार्थता ये सब कल्पित है निरुद्ध प्रलय उत्पत्ति बद्ध साधक मुमुक्ष मुक्त ये सब कल्पित है पारमार्थिक कुछ नहीं तो ये बंध मुख्य दोनों चैतन्य में अध्यस्त है स्वरूप अवस्थान मुक्ति रूपपत्तदुक्तम उपाधिना सार्धम उपाधिजन्यम औपाधिकम सर्व मवेहि मिथ्या भागम मृषाचित प्रतिबिंबकेपि बिंबं पुनः सत्यम अशेषमेव उपाधिना सार्धम उपाधि के साथ उपाधिजन्यम उपाधिजन्य उपाधि कार्य उपाधिजन्यम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि उपाधिकम उपाधिजन्यम औपाधिकम सर्वम अवेहि मिथ्या अवेहि अवप्रगणिकते विद्धि जान मिथ्या है किसको मिथ्या समझना उपाधिजन्यम औपाधिकम सर्वम उपाधिना सार्धम औपाधिक जितने सब मिथ्या है उपाधिजन्य औपाधिकम सर्वम मिथ्या और उपाधि सते उपाधि ना सार्धम उपाधि के साथ औपाधि का सब मिथ्या है उपाधि औपाधि का सब मिथ्या है माया अविद्या उपाधि उसके कार्य आदि उपाधि तजन्य जीवत्व सुख दुख संसार सब मिथ्या है भागम साचित प्रतिबिंब केपि चित प्रतिबिंब चिदाभास उसे भागम मृषा चिदाभास भागम मृषा मिथ्या भूत है यदि मिथ्याभूत है हो गया उपाधि उपाधि का सब हो गया चिदाभास अंतकरण सब मिथ्या हो गई मिथ्या हो जाएगा तो सब मिथ्या होगा तो बिंब कैसे बनेगा बिंब मुख्य कार्य में कैसे रहेगा इसलिए कहते भाग मुसा चिदाभास में एक भाग मिथ्या है प्रतिबिंब अंश मिथ्या है लक्ष्यांश है बुद्धि आदि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब में बुद्धि आदि मिथ्या है और प्रतिबिंब बिंब ही है बिंब सत्य है शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापक सबके अंदर है बाहर भी है वो अंश सत्य है उससे अतिरिक्त बाकी सब मिथ्या है भाग हमेशा चित्त प्रतिबिंब के में भाग प्रतिबिंब उपाधि मिथ्या है बिंब रूप अनुगत सत्य है बिंब पुनः सत्यम अवेश अशेषमेव संपूर्ण बिंब अशेष और जो प्रतिबिंब वो उपाधि है बिंब से भिन्न नहीं बिंब रूप हो जाता है बिंब सत्य है वो बिंब रूप दीर्घ रूप चेतन मुक्त होता है मोक्ष काल में रहता है उसमें अज्ञान से बंधन अध्यस्त है प्रथम मंत्र समाप्त हुआ टीका में भाष्य भाष्य थोड़ा है भाष्य में स्वरूपापेक्ष उभयो ब्रह्म अभिमंत्र की व्याख्या करते हैं थोड़े शास्त्रार्थ हो गया ब्रह्म वकील देवे भाई विजिज्ञे परमात्मा ने देवता के लिए जय प्राप्त करके जय का फल परमात्मा को दे दिया ऐसा आया ये ब्रह्म है ऐसा जो कहा गया इति ऐतिहार्थ ऐतिहार ऐतिहाय यम अयम ऐतिहार्थ इति ह तस्य भाव ऐतिह्यम ऐसा ही हुआ था ऐतिह ऐसा पुरावृत इतिह प्रसिद्ध ऐसा हुआ पुरावृत तस्य भाव ऐतिहार्थम इतिहास कहते इति ह आस इतिहास ऐसा ही हुआ था तस्य भाव ऐतिह्यम तदर्थ ऐसे हुआ था पूरा किल देवासुर संग्राम पूरा प्राचीन काल देवासुर सृष्टि काल में संग्राम हुआ था जगस्थिति परिपिपाल ही सया आत्मानुशासन अनुवर्तिभ्यो देवेभ्यो अर्तिभ्यो अर्थाय विजिज्ञे अजयसित असुरान ब्राह्मण इच्छा निमित्त विजय देवानां बहु इत्यर्थ जगत स्थिति परिपालयसया जगत स्थिति परिपालन करने की इच्छा से आत्मानुशासन वर्तिव्य आत्मा के अनुशासन को अनुवर्तन करने वाले परमात्मा के अनुशासन वेद है श्रुति स्मृति स्मृति श्रुति स्मृति ममे भागे ये परमात्मा का अनुशासन शास्त्र का उल्लंघन करे तो ईश्वर का उल्लंघन आज्ञा का उल्लंघन होता है अनुशासन को अनुवर्तन करने वाले देवता है अनुशासनम थे ते अनुशासन अनुवर्ति न जब अंतकण में शास्त्रीय मत में श्रद्धा शास्त्रीय मत पर चलते हैं तो जीव देव तुल्य हो जाता है जो शास्त्र मत का उल्लंघन करता है वह असुर हो जाता है अंतकण वृत्ति को ही कहीं विचार करके कहा गया वही देवासुर संग्राम अंतकण में चल रहा है तो ये तो देवासुर संग्राम है ये देवता लोग पहले सृष्टि काल में परमात्मा का अनुशासन अनुवर्तन करने वाले वो उनके लिए परमात्मा ने असुरों को संग्राम में परास्त करके जीत गए देवता है अर्थी थे उनके लिए है उनके प्रयोजन के लिए विजिज्ञे जीत गए परमात्मा अजय सिद्ध असुरों को परास्त कर दिया ब्राह्मण इच्छा निमित्त तो विजय देवान बहुवै तीर्थ परमात्मा जय करने के लिए का खड्ग लेकर क्या के युद्ध किया परमात्मा की इच्छा से सब संकल्प मात्र से परम ब्राह्मण इच्छा निमित्त विजय इच्छा निमित्तम यस्य विजयस्य देवताओं की जो विजय हुई उसका निमित्त है परमात्मा की इच्छा इच्छा करके उनको जिता दिया देवन देवानाम विजय बभु उनकी जय हो गई तस्य ब्राह्मण विजय देवा अमहियंत उसी विजय ब्रह्म का परमात्मा की जय हुई देवता लोग को पूजा हुई महापूजायाम देवता लोग को उत्कर्ष हो गए प्रतिष्ठित हो गए पूज्य हो गए उत्कृष्ट हो गए यज्ञादि लोक स्थित त्यपहारी स्वसुरेषु पराजितेषु देवा वृद्धिं पूजां वा प्राप्तवन्त मह पूजा वृद्धि को पूजा को प्राप्त किया देवता ने यज्ञ आदि लोक स्थिति अपहारिषु असुरेषु लोक स्थिति है यज्ञ आदि कर्म धर्म है धरत धर्म धारण धारण करने वाला संसार को जगत को धारण करने वाला धर्म लोक स्थिति का हेतु होता है धर्म यागादि कर्म जन्य यागादि है धर्म का ये लोक स्थिति का हेतु ही धरते इति धर्म अध्रियते इति धर्म धारण किया जाता है और कुछ धारण करके नहीं रख सकते हैं मरते समय कुछ नहीं जा सकता है धर्म ही साथ में जाता है ऐसे हुई धारण किया जाता है बहुत कुछ रखते किंतु समय आने पर छोड़ना पड़ता है फेंकना पर जाता है वो धारण किया गया धारण किया गया तो जब चाहे रखे तो धारण कोई उसको बोझ सिर में रख दिया थोड़ी देर में नीचे गिरा दिया धारण क्या हुआ तो धारण केवल धर्म होता है ध्रियते इति धर्म और धरति इति धर्म सब को धारण करता है और यह धर्म ही धारण किया जा सकता है और कुछ नहीं जाते समय आते समय आया अकेले जाते समय अकेला जाएगा कोई साथी नहीं कोई अपना नहीं केवल एक धर्म ही अपना साथ जाएगा साथ क्या धर्म आपको लेकर जाएगा आप धर्म को धारण करने धर्म आप हमको लेकर जाता है धर्म लेकर जाता है और जहाँ जाना है वहीं जा के पहले व्यवस्था कर लेता है जिसको झगड़ा करना है वो झगड़ा करने वाले पहले तैयार है बीमारी होने वाला पहले से वहाँ बीमारी तैयार है जाते ही बीमार हो जाएगा सुख मिलना है तो पहले से सब व्यवस्था है जहाँ जाएगा प्रारब्ध कर्म धर्म अधर्म जा के पहले व्यवस्था कर देगा जो एक स्थान में झगड़ा करता है चले जाते दूसरा स्थान में वहाँ जाते ही झगड़ा शुरू हो जाता है सुबह पहुंचा शाम को और जिसके बीमार है कहता है ये स्थान ठीक नहीं बीमार है चल जा उधर उधर गया तो उधर दूसरे बीमार पकड़ लिया प्रारब्ध जब तक तब तक धर्म ही साथ में जाता है तो ये देव धर्म होता है लोक स्थिति हेतु आदि लोक स्थिति उसको अपहार करने वाला असुर है लोक स्थिति क्या है तो धर्म उसको अपहार करने वाला असुर स्थित अपहारिषु असुरेषु असुर जो पराजित हो गए देवा अमयंत वृद्धिम पूजा वा प्राप्तवंत वृद्धि को प्राप्त वृद्धि उनको मिली अतः पूजा मिली पूजित हो गई टीका में ये तिमा प्रथम मंत्र हुआ आगे द्वितीय मंत्र चलेगा ये श्लोक तो संख्या सारी का हो सकता है नहीं तो किसी ग्रंथ तो का है इसमें तो नहीं लिखा है कहाँ द्वितीय मंत्र में कितने पृष्ठ में है एक सौ सात में नहीं नहीं एक सौ सात का हाँ, हाँ चौरासी में नहीं बयासी में द्वितीय मंत्र ये होते हैं ब्रह्म अच्छा ब्रह्मदेव बीजिगे तस् ब्रह्मण तय क्षंत अस्माकमेवायम बीज अस्माकमेवा महिमा प्रथम मंत्र अच्छा उसका ये तो प्रथम मंत्र उसके आगे तो वाक्य भाषा में आया तैक्षंत एक पूरा हो गया था तो यहाँ कैसे वाक्य भाषा में एक पूरा दे दिया अभी तो भाष्य में प्रथम पूरा नहीं हुआ है हैं देखो देखो ये मालूम है वाक्य भाष्य में चौदह के पूरा कैसे हुआ वाक्य भाष्य देखो डाइने तरफ चौदह के लिखा है ना एक पूरा हो गया वाक्य भाष्य में एक पूरा कैसे हुआ आगे तो वाक्य भाष्य प्रथम मंत्र का है प्रथम मंत्र वाक्य भाष्य आगे है प्रथम मंत्र का भाष्य और आगे थोड़ा है तैक्षंत इति मिथ्या प्रत्ययत्वाद हेतु तो ये आगे ऐसे क्या क्या है कामना है ठीक है तो अवतरण क्या है अभी द्वितीय मंत्र प्रथम हो गया द्वितीय मंत्र चौरासी पृष्ठा में एवं मिथ्याभिमान यहाँ तो हो गया था ना के में महिमा पदभाष्य देखो चौरासी पृष्ठा में अग्निवाय इंद्रत्वादि लक्षण जय फलभूत अस्माभिर अनुभूयते न अस्मत् प्रत्यगात्मकृत ईश्वर कृत इति एवं मिथ्याभिमान इक्षणवताम मिथ्याभिमान इक्षण देवता की हुई उक्षण हुआ ऐसे देवताओं का तद्धैषा विज तद्धैषां विजज्ञों तेभ्यो प्रादुर्बभुव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति तद ह एषां तद ब्रह्म एषां देवानां अभिमान मिथ्या अभिमान को जान लिया विजज्ञो ज्ञातवान ज्ञान धातु का विजज्ञो विज्ञातवान तेभ्यः प्रादुर्बभुव उनके सामने ब्रह्म प्रकट हो गए इंद्रिय गोचर हो गए तन्न व्यजानत किमिदम यक्ष्यमिति तत् द्वितीयांत तद ब्रह्म को न वी अजानत नहीं जान सके जान सके किमिदम यक्षमिति ये यक्ष पूजने किया है ऐसा नहीं जान सके तद्य किल मिथ्य मिथ्ये क्षणम विजज्ञौ तद ब्रह्म इनका मिथ्या ईक्षण को जान लिया विज्ञातवत ब्रह्म तत्कात ब्रह्म सर्वे क्षित्रि तत्सर्वभूत कर्ण प्रयुक्तित्वाद सबका इच्छण करने वाला क्षित्रिय ये तत्सर्वभूत कर्ण प्रयुक्तित्वा सारे भूत के कर्ण इंद्र का प्रयुक्ता है मन का मन बुद्धि की बुद्धि सारे इंद्रिय का प्रेरणा अंतर्यामी है देवानाम से मिथ्या ज्ञान उपलभ्य देवताओं का मिथ्या अभिमान हुआ अस्माकमेव एम जय अस्माकमेव महिमा परमात्मा की इच्छा से जय हुई वो विचार करने हम लोगों ने जीत गए हमको इसके जय का लाभ फल मिथ्याभिमान देख करके परमात्मा ने देखा मां एव असुरव देवा मिथ्याभिमानात् पराभवे वृत्ति असुर जैसे असुरों का तो मिथ्याभिमान है ही ये देवता लोग भी मिथ्याभिमान से पराभव को परास्त को निकर्ष को प्राप्त नहीं करे इस अभिप्राय से तद अनुकंपया देवताओं के रूप अनुकंपा कृपा के कारण मिथ्या अभिमान घमंड किसका है उसको बढ़ाएंगे तो उसके प्रति उपकार होता है उसको नष्ट करने से उपकार होता है उस समय लगेगा हम कोई मना मना करते हैं किंतु मिथ्याभिमान से परास्त होता है मिथ्याभिमान को नष्ट करना अभिमान को अहंकार को छुड़ाना परमात्मा ने देखा उनकी कृपा करके कृपा से सोजा इनका क्या करेंगे कृपा करने से मिथ्याभिमान अपनोदन न मिथ्या मिथ्याभिमान को नाश करके अनुग्रह करूं जो मिथ्याभिमान अहंकार है अहंकार पतन का कारण है कहीं भी अहंकार हुआ तो पतन शुरू होता है उसको परमात्मा कृपा करने के लिए अपनोदन न मिथ्याभिमान को नष्ट करके अनुग्रह करूं इस अभिप्राय से परमात्मा तेव्य किल अर्थाय प्रादुर्भव कभी-कभी ऐसे होता है दुख मिलता है जीव समता है भक्त समता है परमात्मा हमको कष्ट देते हैं इतने में भक्ति करता परमात्मा कष्ट देते हैं परमात्मा तो कृपा करने के लिए अभिमान नष्ट करने के लिए कुछ तो करते हैं कभी दुख मिलता है तो सुधार होता है दुख आता है सुधार करने के लिए परमात्मा भेजते दूत रास्ता पर चलो ऐसे गलत रास्ता पर चलो तो कितने दुख मिलेगा थोड़ा सावधान करने के लिए भेजते हैं तो मिथ्या अभिमान का निवृत्त करने के लिए परमात्मा उनके लिए कृपा करने के सामने प्रकट हो गए बहु इसी प्रकार कभी कुछ दुख मिलता है अपमान होता है तो ये परमात्मा कृपा करते हैं अभिमान समाप्त होना चाहिए अभिमान अहंकार निवृत्ति के लिए ही गुरुकुल में जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके पहले अहंकार अमानित्वम अदम्बितम ज्ञान साधन में भगवान ने कहा अमानित्वम मानम अस्मानम अस्य स्थिति मानी मानी होता है न मान्य मानी मेरे समान कोई नहीं ये भार मान अपने को बड़ा माना कुछ होना जरूरत नहीं कुछ नहीं होने पर बड़ा मानने कौन माना करेगा कुछ ही मान सकता है कुछ भी कह सकता है क्या कहने के क्या जो जान नहीं जानते तो उस सामने क्या है लघु कौंदी नहीं पढ़ा बोला ये सब ग्रंथ मैंने पूरा पढ़ लिया है सब हम कहता है क्या है कह सकता है ना नहीं कोई भाई पर्वत पर्वत में लात लगाओ तो चूर चूर हो जाएगा बोलो <laughs> कह सकते ना नहीं हां कुछ भी कहो कुछ लोग अपने पास सिद्धि चित चमत्कार कुछ ही नहीं झूठा कर ठगते हैं मैं सिद्धि देखा सिद्धि मेरे पास है ऐसे कह करके लोग ठगते हैं ऐसे कुछ ना कुछ कहते हैं ये सब और कुछ हो हो करके कोई गर्व करता नहीं हो करके अभिमान करते हैं अभिमान अहंकार के निवृत्ति के लिए परमात्मा कृपा करके स्वयोग महात्म निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयन रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचर प्रादुर्भव योग महात्म्य निर्मित न योग महात्मा योग है तीन गुणों का योग माया उसके सामर्थ्य से बनाया अति अद्भुत रूप बना विस्मापनीय दूसरे को देखने पर आश्चर्य होगा ये क्या है रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे देवताओं लोग बात करे हो हमारी जय होगी हमारी महिमा उत्कृष्ट है देवता असुरों को परास्त कर ले बड़े खुश होकर के खुश हो रहे थे सामने दिखा क्या एक दिखता है इंद्र गोचर प्रकट हो गए इंद्र गोचर प्रकट हो गए तो प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानत वि अजानत जानिते जानाते जानते लंग में क्या बनेगा अजानत एकवचन या बहुवचन एकवचन क्या बनेगा अजानित बहुवचन अजान अजान आत्म अजा अजानित अजानाताम अजानत आत्मनिपद हाँ, आत्मनिपद अजानित अजानाताम अजानत जान लिया परमात्मा ने भी अजानत नहीं ब्रह्म न बेजानत ब्रह्म को नहीं जान सके देवता लोग नैव विज्ञातवंत देवा देवता लोग नहीं जान सके क्या है किमिदम यक्षम इति यक्ष कहते पूज्य महद्भुतम ये बड़ा दिखता है और उनमें पूज्य तो भावना हो बड़े कौन क्या दिखा देखते ही देवताओं के किमितम यक्षम पूज्यम ये क्या है महद्भुतम बहुत बड़े हो क्या है नहीं जान सके ठीक है मैं भाष्य में स्वयोग महात्मा निर्मित है ना स्वयोग महात्मा निर्मित का अर्थ योग क्या है रजस तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योग तीन गुणों का योग योग युक्ति घटनम इकट्ठे होना तीन योग का संबंध है तो योग इकट्ठे हो जाना ऐसे गुण होकर के कोई गुण प्रधान भाव होकर के वही माया वही माया है तन महात्म्य न माया के द्वारा ही निर्मित अत्यद्भुत रूप से निर्मित करके प्रकट हो गए द्वितीय मंत्र का वाक्य भाष्य देखो आगे बहुत आगे है साठ नहीं सात साठ सा एक सौ साठ साठ है क्या सात तो बोलो कितने सात <laughs> पौस नहीं पड़ता है सात हाँ देखो तो इच्छन्ते इति देवानाम इच्छनस्य मिथ्या प्रत्ययत्वात् मिथ्या अभिमान से है तो ख्यापनार्थो ब्राह्मण प्रादुर्भाव इति योजना अच्छा पहले भाष्य में तो इच्छन्ते इति मिथ्या प्रत्ययत्वात् हेतु ख्यापनार्थम आमनाय ये संग्रह वाक्य त तो इच्छन्त अस्माकमेवायम विजय अस्माकमेवायम महिमा ऐसा जो आया मिथ्या प्रत्ययत्वात् मिथ्या प्रत्यय है भ्रांति है मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान होने से हेतु तो ख्यापनार्थम आमनाय मिथ्या अभिमान को त्याग करना चाहिए हे त्याज्य हे तो ख्यापन करने के लिए वेद मंत्र है ये आगे का मंत्र है इसलिए ये ऐसे मिथ्या अभिमान ठीक नहीं है है मैं तो इच्छन्ति देवानाम इच्छनस्य मिथ्या प्रत्ययत्वात् ते ऐक्षांत पूर्व मंत्र में आया अस्माकमेवायम विजयो ऐसा जो आया देवताओं का जो इच्छन विचार ज्ञान हुआ मिथ्या प्रत्यय भ्राम मिथ्या अभिमान है मिथ्या अभिमान से है तो ख्यापनार्थ मिथ्या अभिमान को त्याग करना है मिथ्या अभिमान अहंकार को लेकर चलने पर जो गंतव्य है लक्ष्य पर की प्राप्ति नहीं दूसरे स्थान में जाकर नरक आदि पहुंच जाएंगे चलना है रास्ता है लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति मुख्य और मिथ्या पत्य तो लेकर चले भ्रांति रास्ता गलत रास्ते में चलेगा नीचे गिर जाएगा त्याज्य है मिथ्या अभिमान इसको ख्यापन करने के लिए ब्राह्मण प्रादुर्भाव ब्रह्म प्रकट हो गई सूत्रमिदं व्याख्याति ये सूत्र वाक्य संग्रह वाक्य हुआ उसकी व्याख्या करते हैं व्याख्याति ईश्वर निमित्त विजय स सामर्थ्य निमित्त अस्माकमेवायम विजयो अस्माकमेवायम महिमेति आत्मनो जयादि सेव निमित्तम सर्वात्मानम आत्मस्थम सर्वकल्याणास्पदम ईश्वरमेव आत्मत्वेन बुद्ध्वा पिंड मात्र अभिमाना संत यम मिथ्या प्रत्ययं चक्रुस्तस्य पिंड मात्र विषयत्वेन मिथ्या प्रत्ययत्वात् सर्वात्म ईश्वर यथात्म अवबोधेन हातव्यता ख्यापनार्थ तदेशाम इत्यादि आमनाय आख्यायिका आमनाय ईश्वर निमित्त विजय ईश्वर निमित्त निमित्तम यस्य विजयस्य ईश्वर के कारण विजय हुई देवताओं की किंतु देवताओं ने सजा स्व सामर्थ्य निमित्तो अस्माकमेवायम विजय ये जो विजय जय हुई हमारे सामर्थ्य के कारण अस्माकम एव हमारी जय और अस्माकम एव आय महिमा जो पूजा उत्कर्ष हमारी है हम इतने उत्कृष्ट जीत गए इत आत्मन जय आदि आत्मन जय महिमा और जय का फल सेव निमित्तम ये श्रेय का निमित्त है जयादि श्रेय जयादि अलग पदे है सेव निमित्तम सर्वात्मान आत्मस्तम सर्वात्मा जो अंतकण में स्थित है सर्व कल्याणास्पदम सब कल्याण का स्थल ईश्वर है उनको यदि आत्मत्व ने समझ करके है अस्माकम ब्रह्म को मैं ऐसा निश्चय करके यदि मैं कहेगा तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा ब्रह्म को समझ रहा अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मैं ऐसे कह सकता है कोई कहते मैं कह दिया मतलब गया ज्ञान चला जाएगा इसलिए ये शरीर मैं नहीं ये शरीर वहां गया था ये शरीर वहां आया था ये शरीर का नाम है पूछेगा इस शरीर का नाम क्या है आपका नाम नहीं हमारा नाम है शरीर का नाम है मैं ये नहीं मैं शब्द शब्द प्रयोग करने से ज्ञान चला जाएगा नहीं अब मैं शब्द नहीं कह के ये शरीर हमारा नाम है ऐसे कह देने से ज्ञान हो गया जाएगा ये नहीं भाषा सीखने से नहीं होता है कुछ लोग ये शरीर ये शरीर कहे मैं नहीं कहे मैं कहते हैं मतलब अज्ञान आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा और ये सर ये सर कहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान डट कर रहेगा अज्ञान पास में नहीं आ सकता है भाषा सीखते कुछ लोग ऐसा नहीं यहाँ आया अस्माकम जो आया अस्म सदते किंतु जो सर्व कल्याणास्पद ईश्वरमेव आत्मत्वेन अबुद्धवा ईश्वर को आत्मत्व ने नहीं जान करके अस्माकमेव आया प्रयोग किया ईश्वर का आत्मत्व ने जान करके ये अहम अस्मि कहेगा तो हानि है ना नहीं हैं ईश्वर ब्रह्म को आत्मत्व ने जान करके हम शब्द कहेगा कुछ बिगड़ेगा नहीं और नहीं जान करके खाली ये सर कहेगा तो ज्ञान हो जाएगा इस बात नहीं तो कल्याणास्पद ईश्वर का आत्मत्व ने नहीं समझ करके और अस्माकम शब्द अस्म शब्द कैसे प्रयोग किया पिंड मात्र अभिमान संत पिंड मात्र अभिमान ऐसा पिंड में अभिमान देह को अहम मान करके देह को जो मान करके अहम शब्द प्रयोग होता है वो भ्रांत है और शुद्ध ब्रह्म समझ के हम शब्द कहता है वाच्यार्थ को लेकर के व्यवहार करता है क्यों समझता है अहम का तीन अर्थ बताया पंचदशी में एक मुख्य है और दो गौण है मुख्य होता है अज्ञान लोग जो प्रयोग करते हैं ये मुख्य मुख्य इसलिए कहा गया ज्यादा प्रयोग होता है चेतन आत्मा सब चेतन शरीर सूक्ष्म शरीर सब को मिला करके अहम अहम करता है अज्ञान और ज्ञानी का अहम शब्द का दो अर्थ है जब ज्ञान उपदेश करता है शुद्ध चैतन्य को मैं मान करके और जब व्यवहार करता है देहादि में मिला करके अहम गच्छामि ज्ञानी कह सकता अहम गच्छामि हाँ, अहम गच्छामि कहेगा तो ज्ञान चल जाएगा ऐसा नहीं अहम शब्द कहेगा तो कोई आपत्ति नहीं किंतु समझ कर कहता है अहम शब्द कहते समय जानता है ये देहादि में अहम शब्द प्रयोग करता है और अन्य समाधि अवस्था में उपदेश काल में प्राणोस्मि प्रज्ञाता तमाम आयुरमृतम उपासो इंद्र ने कहा प्रतर्दन को प्रज्ञास्मि मैं प्राण प्रज्ञा बहु मेरी उपासना करो इंद्र ने भी अहम शब्द प्रयोग किया ज्ञान का उपदेश करते समय अहम शब्द अस्म शब्द प्रयोग किया ये प्रमाण है कुछ लोग ऐसे सामान्य लोग नहीं जान करके बस मैं शब्द नहीं कहा तो ज्ञान ज्ञान हो गया मैं शब्द नहीं कहना बाकी ये सर ये सर का ये सब कुछ नहीं है ज्ञान वास्तव होना चाहिए समझ करके प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुरमृतम उपास इंद्र प्रतर्दन को कहते हैं तो व्यवहार काल में देहादि को लेकर के ज्ञानी कहता है और ज्ञान उपदेश काल में आत्मा को समझता है इसी प्रकार व्यवहार होता है तीन प्रकार है तो ये देवता लोकने अस्माक अस्माकम एवं विजय ऐसे शब्द कर्ण से कोई आपत्ति नहीं यदि ईश्वर सर्वास्पद सबका अधिष्ठान को आत्मतन जान करके कहेंगे तब तो कोई आपत्ति नहीं उसको नहीं जान कर देह में अभिमान करके तो अस्माकम विजय ये मिथ्या अभिमान हुआ पिंड मात्र अभिमान संत यह मिथ्या प्रत्यय चक्रु मिथ्या प्रत्यय क्या हमारी जय तस्य पिंड मात्र तो न मिथ्या प्रत्यय क्यों हुआ पिंड मात्र विषय तो है ना पिंड मात्र के विषय करने से मिथ्या प्रत्यय अधिष्ठान चैतन्य को मानेंगे तो यथार्थ है मिथ्या प्रत्यय तो आद सर्वात्म ईश्वर आठात्म अवबोधन और मिथ्या प्रत्यय की निवृत्ति अधिष्ठान सर्वात्म आत्म का यथात्म ज्ञान से अधिष्ठान का साक्षात्कार होने से ही ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति होती है मिथ्या प्रत्यय ब्रह्म ज्ञान सर्वात्मा ईश्वर यातात उसके यातात्मा वो बोध है ना उसका लक्ष्यार्थ याथात्म कौन से लक्ष्यार्थ अधिष्ठान चिद्र पर उसका साक्षात्कार होगा अहम अस्मि परम ब्रह्म तद असो नहीं अहम अस्मि से साक्षात ज्ञान होने पर हातव्यता ख्यापनार्थ हातव्य वाक त्यागे ये मिथ्या प्रत्यय को छोड़ना चाहिए मिथ्या प्रत्यय विचार कर देखे मिथ्या प्रत्यय क्या क्या है जितने मिथ्या प्रत्यय है मिथ्या अभिमान नहीं करना है कुछ ना कुछ लेकर उत्कर्ष मानते हैं विचार कर उत्कर्ष किसी में है शुद्ध चेतन में है या अनात्मा में है अनात्मा के उत्कर्ष लेकर के उत्कृष्ट नहीं मानने का आत्मा में उत्कर्ष निकर्ष है ही नहीं बाकी जो उत्कर्ष है अपने में उत्कर्ष बुद्धि मिथ्या प्रत्यय उसको त्याग करना चाहिए इसके लिए तदैसाम प्रादुर्भव इत्यादि आख्यायिका का पाठ आख्यायिका वेद में आया टीका में जया सूत्र में हाँ, जयादि श्रेष्ठत्व निमितम मन्य जयादि श्रेष्ठत्व अपने को मान करके उनका था तद ब्रह्म किल ऐसा देवानाम अभिप्रायम मिथ्याहंकार रूप बीज विज्ञातवान ब्रह्म देवताओं का अभिप्राय को समझ लिया सर्वज्ञ है कुछ नहीं कह करके अंदर कोई मानता है तो भी परमात्मा जानते हैं अभिप्राय गया मिथ्या अहंकार रूपम समझ लिया विषय के विज्ञातवान ज्ञात्वा च मिथ्याभिमान सातनेन तद जिग्रिक्षया तेभ्य देवेभ्य अर्थाय प्रादुर्भव जान करके परमात्मा ने मिथ्याभिमान सातनेन मिथ्याभिमान को नाश करके तद जिग्रिक्षया तेषा अनुजिगृक्षा अनुग्रहित तो मिच्छा देवताओं के अनुग्रह करने के लिए अनुग्रह करने की इच्छा से तेभ्यो देवेव अर्थाय प्रादुर्भव उनके लिए प्रकट हो गए प्रकट हो जाएंगे दूर में कहीं जाकर वैकुंठ में कहीं दूर में प्रकट होंगे तो क्या होगा तेषा में वे इंद्रिय गोचरे प्रकट हो गए किंतु सामने इंद्रिय गोचर इंद्रिय का विषय हो नाति दूरे बहुत दूर में नहीं सामने दिखता है देखे क्या दिखता है नाति दूरे प्रादुर्भव प्रकट हो गई महेश्वर शक्तिमाय उपात्यन अत्यंत अद्भुतेन प्रादुर्भतम किल केनचिद रूप विशेषण महेश्वर शक्ति महान सु ईश्वर से महेश्वर ईश्वर की शक्ति है माया माया उपातेन माया उपात गृहित अत्यंत अद्भुतेन अत्यंत अद्भुतेन रूपेण माया से बना गया अत्यंत रूप प्रादुर्भूत प्रकट हो गए किल केन से भी रूप विशेषण किस रूप विशेष से प्रकट हो गए परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नाम रूप रहित है जरूर किंतु चाहे तो रूप से रूप धारण करके प्रकट हो सकते हैं ये प्रमाण है केन उपनिषद वेद प्रमाण है सगुण रूप धारण करते परमात्मा इसलिए सगुण का कुछ लोग निर्गुण कह करके सगुण का खंडन करेंगे कुछ लोग सगुण मान करेंगे निर्गुण का खंडन करते हैं सगुण ही है सेवशा से निर्विशेष ब्रह्म है नहीं कोई कहेंगे और कुछ लोग ज्यादा आगे बढ़ गए कहते सगुण है ही नहीं एक तो निर्गुण ही तत्व है आकार है ही नहीं निराकार की पूजा करेंगे कहते हम और आगे आचार्य भगवान शंकराचार्य से भी आगे बढ़ करके क्योंकि उन्होंने माया मान स्वीकार किया स्तोत्र आदि पाठ किया कोई कोई कहते पढ़े बहुत दिन किसी महात्मा से पढ़ने के बाद कहे स्वामी जी तो अच्छा है तो पढ़ाते हैं किंतु मूर्ति पूजा करते हैं मंदिर में जाते हैं मंदिर में जाते मतलब गया सब ज्ञान खत्म हो गया यदि कोई ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मंदिर में जाएगा बताओ ब्रह्म ज्ञान रहेगा रहेगा झुक कर प्रणाम करेगा ब्रह्म ज्ञान रहेगा जब तो देह में अहम बुद्धि है ना तब तो डर लगता है कहीं प्रणाम करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा मैं क्यों प्रणाम करूं मैं तो ब्रह्म हूं देह में अहम बुद्धि है यदि कोई प्रणाम कर लिया तो ब्रह्म प्रणाम करता है क्या आप यदि ब्रह्म हो देह झुक गया तो आप आप आप झुक गए यदि आप देह नहीं है देह झुक गया तो आपका क्या बिगड़ेगा देह मंदिर गया तो आपका क्या बिगड़ेगा उस समय देह में अहम बुद्धि शब्द से तो हम ब्रह्म हूं और देह में अहम बुद्धि हम क्यों झुकेंगे हम क्यों प्रणाम करेंगे यदि देह निश्चय साष्टांग प्रणाम कर लिया तो आप यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म साष्टांग प्रणाम कर लिया क्या आपका क्या बिगड़ा तो इसलिए कुछ लोग ऐसा निर्गुण का खंडन करते निराकार का खंडन करते आकार है ही नहीं आकार मिथ्या ये आकार में वेद प्रमाण है स्वयं परमात्मा ने इंद्र के सामने किस रूप धारण करके प्रकट हो गए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा रूप धारण कर सकते हां रूप माई कहे माई के रूप है माया से ही सब कुछ अंदर साधन जितने वेदांत श्रवण गुरु शिष्य संबंध ये सब अविद्या अवस्था में है ज्ञान होने के बाद वेद सत्य है या ईश्वर सत्य है या गुरु सत्य ना तीसरे सत्य है संसार सत्य कुछ नहीं अज्ञान अवस्था में सब व्यवहार है उसको से के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति के लिए अज्ञान अवस्था में ही वेदांत श्रवण गुरु शिष्य संबंध उपासना सब करते करते ब्रह्माकार वृत्ति भी अज्ञान का कार्य वही वृत्ति अज्ञान का कार्य अज्ञान को नाश करे लोहा से बनाते आरी वो आरी के द्वारा लोहा को काटते लोहा वो कार्य से कारण की निवृत्ति होती तो ये अज्ञान से ही ये सब है पर, परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नाम रूप रहित है भगवान शंकराचार्य स्पष्ट करते केवल अद्वैत में नाम रूप को सत्य नहीं माना माया को कोई पारमार्थिक नहीं माना और पारमार्थिक मिथ्या रूप से मान लिया तो क्या बिगड़ेगा मिथ्या मरु में मिथ्या जल दिखता है मरीचिका कह दिया तो नष्ट हो गया ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो जाएगा ना भ्रांत हो जाएगा राज्य में मिथ्या सर्प दिखता है झूठा है ऐसा में जानने से भ्रांत नहीं होता है तो ये केन उपनिषद प्रमाण है जो आकार परमात्मा सर्व सर्व सर्वशक्तिमान होने से आकार धारण भी करते हैं भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये बिल्कुल अप्रमाण है ये परंपरा जो है बहुत प्राचीन परंपरा शास्त्रीय परंपरा कुछ नहीं जाने करके थोड़े लोग अज्ञान बाहर करके आकार का खंडन करके नाम का खंडन करके वो छोड़ेंगे कुछ दूसरे नाम फिर कहेंगे परमात्मा का नाम कहें परमात्मा का नाम जप नहीं करना चाहिए प्रमाण क्या मालूम है अर्जुन ने क्षमा प्रार्थना किया हे कृष्ण हे जादव ऐसा कहते कहा था ना मैं जो आपके हे कृष्ण नाम ले लिया था क्या प्रार्थना किया इसे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए फिर दूसरा क्या नाम लेंगे अपने नाम बताएंगे गुरु का नाम नहीं तो दूसरे के नाम बताएंगे अरे नाम नहीं लेना है तो अपने नाम फिर क्यों लेते हो भगवान का नाम नहीं लेना राम को नाम लेने के लिए उपदेश करते अर्थात जिसका नाम लेने के लिए आप कहते हो और भगवान का नाम नहीं है भगवान का नाम नहीं लेकर के भगवान का नाम को उपदेश क्या मत मतलब है ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सब कलयुग में ऐसे सब होता है भगवान का नाम लेने के लिए खंडन करेंगे अद्वैत नाम उपदेश कर इसको जप करो ये और जो उपदेश करेंगे ये भगवान का नाम है नहीं पूछो कहे निराकार का नाम है निराकार शब्द निराकार शब्द किसका है निराकार परमात्मा का जो तुम्हारे परमात्मा जिसको मानते हो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है या नहीं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है तो आकार धारण कर सकते या नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो क्या परमात्मा है आकार धारण कर सकते केन उपनिषद में जो आया मूल मंत्र के अनुसार भाष्य टीका छोड़ दो मूल मंत्र के अनुसार भी स्वयं परमात्मा इंद्र देवताओं के सामने प्रकट हो गए इंद्र के गोचर में तो साकार रूप धारण कर सकते परमात्मा तभी परमात्मा निराकार होते हुए भी अपनी इच्छा से माया के द्वारा साकार हाँ जो साकार रूप पारमार्थिक नहीं है जो लोग साकार को पारमार्थिक मान करके निर्गुण निराकार का खंडन करते वो भी भ्रांत है और जो लोग निर्गुण निराकार कहते साकार रूप बिल्कुल कुछ है ही नहीं बंध्या पुत्र जैसे कहते वो भी भ्रांत है वास्तव पारमार्थिक निराकार नाम रूप रहित है और व्यावहारिक मायिक सब है जैसे अभी जगत दिखता है ऐसे साकार रूप ही से सत्य है और जगत को सत्य मानेंगे साकार रूप को खंडन करेंगे ये जगत तो सत्य है हमारे गुरु शिष्य समय हमारे पैर दबाओ किंतु निराकार साकार नहीं है साकार का खंडन करेंगे हर मार पर दबाओ साकार रूप का खंडन करना है तो, तो फिर गुरु कहाँ से आए गुरु भी तो साकार है हमारा क्यों पैर दबाना आपका पैर क्यों दबाएंगे हमारी सेवा करो अब साकार खंडन करेंगे और भगवान का नाम कहेंगे राम कृष्ण गोविंद इनका नाम नहीं लो हम जो नाम बताए जप करो ये नाम फिर किसका है कहते निराकार परमात्मा निराकार परमात्मा नाम किसने रखा है यदि परमात्मा का नाम है इधर कहते नाम नहीं लेना परमात्मा का परस्पर स्वचन विरुद्ध मूर्खों का ऐसे चलता है वो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसे आकार धारण करके प्रकट हो गए च रूप विशेषण तत्किल उपलभमानापि देवा न व्यजानत देवता लोग सब जानते हैं तो भी नहीं जान सके न विज्ञातवंत किमिदम यतेदत यदेतद यक्षम पूज्यमिति नहीं जान सके ॐ तो ममाङ्गानि